को सभी मिलकर के मेरे साथ तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ... आचार्य ज्ञानेश्वर जी आदरणीय स्वामी मुक्तानंद जी आचार्य सोमदेव जी आर्य समाज के पदाधिकारीगण बाहर से पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों और ब्रह्मचारीगण सात दिन पहले हमने यात्रा प्रारंभ की थी और ब्रह्मचारियों ने बड़ी उत्सुकता से इस यात्रा को पूरा किया जहां तक मेरा आकलन है ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न हैं खुश हैं बहुत उत्साहित है हम लगभग दस आर्य समाजों में भी गए अधिकांश हमारा रुकना और भोजन आर्य समाज में रहा और अन्य विविध चीजें हमने देखी गांधीनगर से प्रारंभ करके और यहाँ काकरिया तक इनको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला यात्रा चलती है तो कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है कोई कुछ सीखता है कोई कुछ सीखता है कोई कम सीखता है तो कोई अधिक सीखता है कुछ ब्रह्मचारियों की इतनी उत्सुकता थी कि एक जगह पहुंच करके अभी उसको पूरा भी नहीं किया तो पूछते हैं जी आगे कहा जाना है आगे का अगला कहा कार्यक्रम हो आगे कहा जाएंगे अब क्या अगला इसको अभी पूरा नहीं किया बिल्कुल अंत में है लेकिन लग रहा है कि समाप्ति है तो आगे के लिए इनको विविध चीजें देखने को मिली विज्ञान की मिली प्रकृति की मिली आर्य समाज मंदिर पौराणिक मंदिर समुद्र खाने पीने का भी बहुत भिन्न भिन्न आप सब लोगों की कृपा से इतना सब होते हुए भी बीच बीच पर क्या बात आती एक इच्छा हुई कि जी कभी समुद्र में यात्रा करवाई जाए टापू में कहीं जाया जाए क्योंकि नहीं गए थे कुछ ने तो पहली बार समुद्र देखा था अब समुद्र देख लिया तो समुद्र को अंदर जाकर के देखा जाए वो भी दिखा दें कभी मान लो अब इतने से दिन में क्या हो सकता है लेकिन दिखा दें फिर जी कभी आकाश में उड़ करके देखें जाए तो वायुयान की यात्रा हो और वायुयान की भी करा दी तो आजकल तो मंगल यात्रा की बात चल रही है वहां कॉलोनिया बस रही <laughs> अब वो तो हम तो कर नहीं सकते लेकिन यात्रा ऐसी चीज है जो उत्सुकता जगा देती है आदमी उसमें सुख भी मिलता है और उसमें ज्ञान भी मिलता है हम सबकी भी एक यात्रा चल रही है हर मनुष्य की यात्रा चल रही है और इस यात्रा में हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं सुन रहे हैं सीख रहे हैं हमारी भी यही हालत है जैसे इन छोटी यात्राओं में हमारी हालत रहती है एक भोग भोगा एक विषय को देखा तो अगला क्या वो पूरा भी नहीं हुआ अभी और अगला कौन सा सुख अगला कौन सा भोग ये भोग भोग लिया तो इससे अगला भोग उससे बड़ा भोग कुछ लोग यात्रा करते हैं बच्चों की उत्सुकता युवकों की उत्सुकता अधिक होती है स्वाभाविक है नए नए होते हैं लेकिन यही इसी तरह से पांच दस बार इन्हीं स्थानों पर घूमेंगे तो इनकी उत्सुकता का क्या होगा जैसे कि मुझे इनके साथ साथ जाना पड़ता है मैं पहले इन यात्राओं को कई बार देख चुका हूं घूम चुका हूं फिर भी मेरे को साथ साथ जाना पड़ता है अभी इनके जैसी उत्सुकता तो मेरे को नहीं होगी और मेरी मजबूरी नहीं होती तो शायद मैं नहीं जाता लेकिन पहली बार मैं घूमा तो इन्हीं की तरह मेरे को भी उत्सुकता थी तो यात्रा करते करते बार बार वही यात्रा करवाई जाए किसी से तो आनंद बंद हो जाएगा समाप्त हो जाएगा हमारे कुछ ब्रह्मचारी तो जो पहले देख चुके थे एक आज महात्मा गांधी के विद्यालय को देखने गए तो एक ब्रह्मचारी बोले कि मैं तो देख चुका हूं पहले से वो तो उन्होंने बाद में कहा मैंने कहा आप नहीं आए अंदर वैसे ये सब थके हुए थे सबके पैर दर्द कर रहे हैं वहां पर गिरनार में ऊपर तक चढ़े थे तो अंदर नहीं आए तो चित्र नहीं लेना था बोले चित्र तो लेना ही नहीं था तो मैं क्या करता आकर के उनका चित्र लेने के लिए घूम रहे थे क्या अभी तक बोले नहीं जी मैंने देख लिया था पहले एक तो व्यक्ति खुद देखने जाता है और एक केवल इसलिए कि चित्र लेना है इसलिए देखने जा रहा हूं तो दोबारा देखने की उत्सुकता नहीं होती दोबारा भले ही ना देख रहे हो लेकिन नई चीज देखने की उत्सुकता तो अभी भी है वो समाप्त नहीं हुई ये सौराष्ट्र घूमा भाई कच्छ के भाग में भी जाए या दूसरा ये सूरत और बड़ौदा और महाराष्ट्र की तरफ फिर एक राज्य पूरा हो गया तो दूसरा राज्य फिर केरल भी जाना है सिक्किम भी जाना है असम भी जाना है अब भारत देख लिया तो विदेश भी जाना है नेपाल भी जाना है वहां भी जाना है घूमने से जानकारी मिलती है सुख मिलता है लेकिन बार बार हम नहीं चाहते उसको इतनी सीख तो आ गई जिसको सीख नहीं आई तो वो तो बार बार वहीं वहीं जाता रहेगा बार बार वहीं वहीं जाता रहेगा वो दूसरी जगह जा रहा है तीसरी जगह जा रहा है और लगाए पूरी जिंदगी भर विषय बदल रहे हैं स्थान बदल रहे हैं लेकिन यात्रा में जो आनंद और सुख ले रहा है वो समाप्त नहीं हुआ है उसका एक तो समझ आ गई कि अब यहां दोबारा सुख नहीं है लेकिन प्रवृत्ति नहीं हटी तो ऐसा ही हमारे जीवन में चलता रहता है एक विषय को भोला भोगा एक मिठाई खा ली ये कर लिया वो कर लिया तो वो तो हमारे जीवन से जुड़ा है इसलिए हम बार बार खाते रहते हैं लेकिन फिर भी उत्सुकता रहती है नया नया कुछ खाया जाए नया नया भोगा जाए लेकिन विषयों की इच्छा समाप्त नहीं होती जिन विषयों को भोग लिया पर्याप्त मात्रा में उनके प्रति वित्रृष्णा हो सकती है कि यहां मान लीजिए हमारे को तो हमने पांच या छह बार हमारे को अड़ दिया अड़ दिया अड़ <laughs> इतना अड़ दिया जो यहाँ की मिठाई होती है ना बहुत अच्छी मिठाई है हमने बहुत आनंद लिया सब जगह अच्छे अच्छे थे लेकिन सब अड़ दिया अड़ दिया <laughs> पांच छह बार हमको खाने को मिला वो लेकिन उससे भर रहा है मन लेकिन मिठाई की इच्छा तो फिर भी बनी हुई रहे तृप्त नहीं हुआ ऐसा ही इस जीवन में भी चलता रहता है लेकिन कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो एक जगह देखा दो जगह देखा पहली बार से मन भर गया दूसरी बार देखा है तो नया तो ये भी ऐसा ही है जैसा पिछली बार था मैं नया सोच रहा था लेकिन यहां भी वही पेड़ पौधे और वनस्पतियां और चीजें और उत्सुकता हो गई तीसरी चौथी उसकी यात्राएं रुक जाए वो अब दुनिया के एक एक देश में जा जा करके घूमना नहीं चाहेगा लेकिन कोई जाता भी है उसके मन में यही रहता है कि मुझे हर देश देखना है जैसे किसी व्यक्ति हो मुझको दुनिया के हर भोगों को भोगना है तरह तरह से भोगना है जितनी तरह से भोगा जा सकता है उतनी तरह से भोगना है चलता रहता है आदमी लेकिन ये यात्राएं व्यक्ति की समझदारी के साथ में रुकती हैं समाप्त हो जाती हैं इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी कब होंगी जब हम इसको समझदारी से भोगेंगे देखेंगे ईश्वर ने ये संसार बड़ा आकर्षक बनाया है विषयों का आकर्षण बहुत अधिक है उसका कारण भी है कि इसके इनके आकर्षण की वजह से हम खाते पीते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं और जीवन चल रहा है आवश्यक भी है लेकिन इसके साथ परमात्मा ने इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या जोड़ रखी है कि इन सब भोगों से मनुष्य सबक ले सकता है सीख ले सकता है उन विषयों को ऐसा बनाया परमात्मा ने और हमें ऐसी बुद्धि प्रदान की है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें जागरूकता से संसार को भोगें तो विषयों के प्रति वैराग्य होगा ही जिसने विषयों को अच्छी तरह नहीं भोगा समझ के नहीं भोगा वो विषयों से कभी वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकता वो सोचता ये है कि मैं भोग रहा हूं जान रहा हूं लेकिन वैराग्य नहीं आएगा क्योंकि उसने उसको भोगा नहीं है ढंग से समझा नहीं है तो जैसे यात्राएं करते करते व्यक्ति थक जाता है आप में से भी बहुत होंगे जो अब यात्राओं की इच्छा भी नहीं करते होंगे क्या जाना है नए नए मंदिर भी कोई बताया तो वही मंदिर है वैसे ही मूर्तियां हैं वैसे ही ये है नदी नाले बोले वैसे ही हैं क्या है समझदार व्यक्ति जब जीवन यात्रा को चलाता है तो वहां भी वो इसी तरह से समझदारी से काम ले लेता है तो आगे उसकी विषयों के प्रति इच्छा क्षीण होती जाती है समाप्त होती जाती है और अभी यात्रा करके हालांकि ये तो थके नहीं है अभी उत्सुकता समाप्त नहीं हुई है लेकिन लंबी यात्रा करते करते जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो उसकी इच्छा करती है कि अब मैं अपने घर की यात्रा करूं यात्रा से परेशान हो जाता है कंटाल जाता है मैं अपने घर की यात्रा करूं हम बाहर की यात्रा में अधिक रहते हैं या अपने घर की यात्रा में अधिक रहते हैं घर की यात्रा में अधिक रहते हैं ये तो हमारी समझदारी नहीं है इसलिए हम बाहर बाहर जाते रहते हैं बहुत हमारे ये जो जीवन की यात्रा है वो अधिक चलती है या मुक्ति का काल अधिक चलता है एक विचार की बात है जन्म जन्मांतर तक हम चल रहे हैं एक जन्म दो जन्म और सैकड़ों लाखों करोड़ों जन्म चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं बहुत लंबा काल ऐसा लगेगा जैसे कि पता नहीं हमारी मुक्ति हुई भी है या नहीं कभी और आगे भी पता नहीं होगी या नहीं होगी जो प्रारंभ में चलते हैं जिनको बड़ा कठिन लगता है ये मार्ग और लगता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूं तो उसे जीवन बहुत लंबा लगता है अब मुक्ति का काल कितना है छत्तीस हजार बार सृष्टि बने और बिगड़े छत्तीस हजार बार हम अपने जन्मों की कल्पना करें कि एक व्यक्ति कितने जन्मों के बाद में मुक्ति को प्राप्त कर लेता होगा एक दो में तो हमारे को समझ में ही नहीं आता कि प्राप्त कर सकता है सौ जन्म हजार जन्म एक लाख जन्म तो एक लाख जन्म भी कितने वर्षों में हो जाएंगे चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष की ये सृष्टि है चार अरब बत्तीस करोड़ एक एक जीवन सौ वर्ष का भी लगा लें तो तो भी कितने जन्म अरबों जन्म हो रहे हैं और मुक्ति का काल छत्तीस हजार बार इससे भी छत्तीस हजार गुना है तो कई बार ये विचार आता है कि हमारा जन्म मरण ज्यादा समय चलता है या मुक्ति का काल हमारा अधिक रहता है सामान्यतया सबका हम दोनों जगह आते जाते रहते हैं हम अधिक दिन जन्म मरण में रहते हैं या अधिक दिन मुक्ति में रहते हैं किस में रहते हैं मुक्ति में अधिक समय रहते हैं या जन्म मरण हमारा अधिक चलता रहता है तो सामान्यतः तो हमारा विचार है मुक्ति तो हमारे लिए जैसे कि बाहर की बात है हमारा तो क्षेत्र ही नहीं है ऐसा सोच लेते हैं हम गलत सोचते हैं हम तो बस ऐसे ही जन्म मरण चल रहा है चल रहा है चल रहा है जैसे कि मुक्ति कभी मिली नहीं सकती और ना मिली और जब समझ में आता है नहीं मुक्ति तो मिली है तो उन लोगों के लिए मैं विचार रख रहा था कि अधिक दिन हम मुक्ति में रहते हैं या अधिक दिन जन्म मरण में रहते हैं योग दर्शन में एक कथा आती है विभूति पाद में अवाट्य और जय की शव्य की वो चर्चा कर रहे हैं कि जी आपने ये ऊंची स्थिति प्राप्त की है इस संसार में आपने इतने भोगों को भोगा है इतनी ऊंची स्थितियां प्राप्त की आपने सुख अधिक भोगा या दुख अधिक भोगा वो तो खैर उनका उत्तर यही था कि दुख अधिक था ये दुख रूप ही है जो सुख भी है वो दुख रूप है लेकिन उस प्रसंग में एक बात कही गई उन्होंने कहा कि दस महासर्गों में मैं जो जीवन चल रहा है पिछले दस महासर्ग एक महासर्ग मतलब पूरा चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष मान करके मैं चल रहा हूं ऐसे दस सृष्टियां बनी और बिगड़ी बनी और बिगड़ी प्रलय में तो कोई जन्म होता नहीं लेकिन सृष्टि काल जो है उसका इतने समय तक जन्म होता रहा मरता रहा दस सर्ग दस महासर्ग लगभग हमारा भी इतना ही होता होगा या कम भी हो सकता है एक महासर्ग में या तो चौथाई महासर्ग में भी कोई मुक्ति में जा सकता है असंभव नहीं है लेकिन यदि इस दस महासर्ग को भी मुक्ति के काल से जोड़ा जाए देखा जाए तुलना की जाए तो छत्तीस हजार को अगर दस से भाग भी दें तो भी तीन हजार छह सौ बार सृष्टि बने और बिगड़े इतना काल मुक्ति का है तो दस महासर्ग तक भी घिसटते रहे दुख पाते रहे तो भी इससे तीन हजार छह सौ गुना मुक्ति का फल ये जो शेयर बाजार में एक रुपया डालते हैं और अगर उसका दस रुपया हो जाता है तो कितना अच्छा माना जाता है बहुत दस गुना हो जाए अगर इन्वेस्ट किया एक रुपया और दस गुना हो गया अगर सौ रुपए का भी शेयर हो जाता है या हजार का भी हो जाता है एक रुपया डाला और हजार हो जाए तो क्या कहने कितना बड़ा माना जाता होगा हमने घिसाई की हमारी घिसाई हुई कष्ट भोगा औसत मान लो दस महासर्गों तक लेकिन मुक्ति उससे तीन हजार छह सौ गुना अधिक मान सकते हैं इतने लंबे काल तक मुक्ति और यदि हम यूं कल्पना करें कि घिसकते ज्यादा हैं और मुक्ति कम काल के लिए मिलती है तो वैसे भी ये युक्ति तर्क से नहीं जमता कि किया तो हमने इतना सारा कष्ट तो भोगा इतना और मिला इतना सारा फल तो वो होता है जो किया इतना और थोड़ा और मिलता वहां पर बहुत उससे कई गुना ज्यादा मिलता है लेकिन वो मिलता कब है ये हमारी यात्रा कब तक चलेगी दस महासर्ग भी चला सकते हैं या तो कम में भी हम निपट सकते हैं और दस से बीस महासर्ग और भी चला सकते हैं केवल एक चीज की आवश्यकता है इस यात्रा को करते हुए जागरूकता बनाए रखें इससे कितना मिला क्या मिला ये भी वैसा ही है या भिन्न है और इन सबसे हुआ क्या मिला क्या कितना मिला ये जागरूकता आई बस इसी का नाम विवेक है और विवेक आया तो वैराग्य होना ही है और वैराग्य हुआ तो मुक्ति होनी ही है तो ब्रह्मचारियों की यात्रा हुई आप लोग भी करते रहते हैं इसी यात्रा के अनुभवों को हम अपने जीवन यात्रा पे भी घटा लें वो कि वो सूत्र घटेंगे वो कि वो बातें घटेंगी तो मैं अपनी बात को तो यहीं विराम देता हूं और आर्य समाज का इस आर्य समाज का उनके पदाधिकारियों का श्री पूनम चंद जी बैठे हैं यहाँ सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ सब ब्रह्मचारियों की तरफ से गुरुकुल की तरफ से वानप्रसादक आश्रम की ओर से कि आपने हमारे प्रारंभ की भी व्यवस्था की वहां गांधीनगर में यहां भी हमारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था की और ये कार्यक्रम भी रखा हमारे को सहयोग आप लोगों से मिलता रहता है और बाकी सब भी जो आपके धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं आप लोगों के सहयोग से ही ये गुरुकुल जैसी चीजें चल पाती हैं इस संक्षेप से बहुत छोटा सा कार्य होता है लेकिन एक मूलभूत कार्य होता है आधारभूत कार्य चलता है इसकी महत्ता आप लोग बहुत कुछ समझते हैं अगर विद्वान तैयार नहीं होंगे तो आर्य समाज भवनों के आधार पर तो दूसरों को जीत नहीं सकता ये ब्रह्मचारी कई बार यूं कहते थे देखो कि इनके इतने भव्य भवन बने इतने ये बने रखे हैं इन्होंने ये बना रखा है हम क्यों नहीं बना लेते हमारी तो पूंजी ही हमारा ज्ञान है हमारी तो पूंजी ही हमारा आचरण है हमारी तो पूंजी ही हमारी शुद्धता है धर्म की शुद्धता है यही हमारी पूंजी है और उसको हम बचा के रख सकते हैं तो वैदिक धर्म का बीज बचा हुआ है ऋषियों की परंपरा बची हुई है महर्षि दयानंद की कामनाएं इच्छाएं मरी नहीं है अभी जीवित है और सबका सहयोग रहता है सबको गुरुकुलों से भी प्रेरणा मिलती है औरों से गुरुकुलों को सहयोग मिलता है हम इसको पल्लवित पुष्पित करें ये बीज खूब खूब आगे बढ़े ऐसी आप लोगों की भी कामना है हम लोग भी चाहते हैं ब्रह्मचारी भी इसके लिए लगे हैं तो पुनः आप सभी का समाज के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ओम शिव